करने के लिए आरंभ करते हैं न सांपराय प्रतिवाद बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोह न मूढ़म अयम लोको नास्ति पर मानी पुनः पुनर्वशमापत्य दे मे वित्त मोह न मूढ़म वित्त मोह से प्रमाद करता हुआ जो मूढ़ है बाल है प्रमाद करने वाले जो मूर्ख हैं ऐसे जो है सांप्राय न प्रतिवादी वह यह परलोक के साधन जो है संपराय मैंने परलोक उसका जो साधन है सांपराय उसके साधनों में उनको विश्वास नहीं होता उनको प्रतिभान ही नहीं आज की जैसे कहते हुए हमें तो मालूम ही नहीं था जन्म संस्कार भी कोई होता है उसे आठ उम्र में करना चाहिए मालूम भी नहीं क्या मनुष्य पैदा हुए कैसे सनातन धर्मियों के पैदा हुए पता नहीं जानते ही नहीं चीजों को संस्कारों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं उनके दिमाग में इन बातों का भान ही नहीं हो रहा जबकि यही क्या है हमारे मोक्ष तक की प्रवृत्ति वृद्धि के प्रति साधन है उन साधनों का उनके प्रति भान ही नहीं होता पशु जीना पशु काम चलता है माता पिता भी वैसे इसलिए उनके वहां पैदा होने वाला भी जिस घर में कोई संस्कारों का ज्ञान नहीं है ऐसे घर में क्यों पैदा होते हैं लोग इसी कारण से होते हैं जन जन्मांतरों से ऐसे ही रहा हो इसलिए ऐसे घर में उसको भगवान जन्म देते हैं और उनकी अपेक्षा किया है श्रेयो मार्ग के लिए संस्कार का कथन किया है प्रियो मार्ग के लिए कहीं संस्कार का कथन और शास्त्रीय प्रिय मार्ग लोग है उसके लिए भी संस्कार की जरूरत है शास्त्रीय प्रिय मार्ग क्या कर्म और उपासना वो भी वहां नहीं होता है वहां तो पेट पूजा की पढ़ाई हो रही है केवल सर्टिफिकेट पाओ नौकरी पाओ कमाओ वहाँ तो रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने के साधन का ही तो पढ़ाई हो रही इसलिए वहाँ पर जो है स्वर्ग का जो विद्या है कर्म उपासना या कर्म मात्र और जो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली जो विद्या है कर्म विशिष्ट उपासना या केवल उपासना उसको तो अपनाया नहीं जा रहा है इसीलिए कर्म रूपी विद्या या उपासना रूपी विद्या या ब्रह्म ब्रह्म विद्या इनमें से कोई विद्या वहां पर नहीं हो रही है तो संस्कार की जरूरत क्या वहां तो एबीसीडी पढ़ा रहे ओ आई पढ़ा रहे और उसे कहा ले जाएंगे आपको भोगवाद में पहुंचा रहे भोगवाद में तो पहुंचा रहे हैं आपको तीसरे वहां के लिए संस्कारों की अपेक्षा नहीं है उस पढ़ाई की इसलिए वेदाध्ययन जिसके माध्यम से कर्मानुष्ठान करके आप जो है स्वर्ग को प्राप्त करें या सगुणोपासनादियों को अनुष्ठान करता हुआ करो उपासना कर्मों को करते हुए ब्रह्मलोक को प्राप्त करें क्रम मुक्ति अथवा प्रविद्या के द्वारा साक्षात सद्य मुक्ति को प्राप्त करें ऐसे के प्रति ही यहाँ विचार होता है और उसके लिए कहा जा सांपराय प्रतिवादी बालम लेकिन जो बाल है बाल कौन है यहाँ ये नहीं हो अधीत काल कोश हो वो सब नहीं है यहाँ जो स्तनंद है बाल वो बाल नहीं है आगे लग गया प्रमाद्यंतम बालम विशेषण प्रमाद करता हुआ बाल है ये अपने आपको धीर मानना पंडित मानना ये सब क्या है प्रमाद है केवल प्रमाद ही कर रहा है बाल इतना ही नहीं वित्त मोहे न मोढ़म ये जो यह लोग और परलोक तो छोड़िए यह लोगों का भोग रूपी वित्त से ही कह मोहित होकर मूड है उसको न सांप्रत प्रतिवादी उसके लिए जो परलोक के साधन का भी भान नहीं होता तो ब्रह्म विद्या का भान कहाँ से होना है क्यों क्योंकि वो ये मान रहा है हम लोग को ये वो अस्थि पर थी वो इतना मान रहा है बस ये जो स्त्री पुत्र पशु अन्नादि है ना बस यही सब कुछ है संसार और कुछ भी नहीं है कोई परलोक नाम का चीज नहीं है पुक्का चारवाक है वो पक्का चारवाक और ऐसे ही बहुत है सभी वेशों में सभी वेशों में समझ गए ना सब वेश ये मत सोचो कि सन्यासी का वेश पहन लिया तो ये उस कोटी में नहीं जा रहा है वो भी बाकी है बाक वाले ज्यादा मिलेंगे बाकी सांघ योग न्याय मीमांसा और वेदांत तो बहुत ही कम आगे बताएंगे सुनने को ही नहीं मिल रहा है इस वेश में भी और सुनने वाले को लाभ नहीं हो रहा क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा लगे हुए न घर के न घाट के पीछे फंसे पड़े हैं वो त्रिशंकु जैसे कुछ कुछ कामना भी कर रहे हैं और कुछ कुछ विद्या की ओर भागना चाह रहे हैं और दोनों दोनों चाहते भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी स्त्रोत्र में कहते हैं ना भुक्ति मुक्ति प्रदाय भुक्ति भी चाहिए मुक्ति भी चाहिए अरे दोनों कैसे चलेगा वहां कामदम मोक्षदम चाहिए ओंकार आय नमो नमः स्त्रोत्र बना दिया है तो वो हम दोनों देने वाला ही आकार से विश्व में जाएगा ना कहा है उकार के अंतकरण शुद्धि होती है मोह से जो मुक्ति का रास्ता खुलता है मोक्ष और काम दोनों देने वाला है अब लेकिन इसलिए आप कैसे उसके उपासना करते उसके ऊपर निर्भर है इसे लोग क्या करते हैं ना आ चाहिए ना माँ चाहिए वो पकड़ लेते ज्यादा ताकि थोड़ा ये थोड़ा वो दोनों मिलते रहे बीच में ही रहेंगे तो इसलिए सब इसमें गिनती में आ रहे हैं वित्त मोहे न मूढ़ में सब आ गए अच्छा अयम लोग वास्ते नास्ती पर मानी पुनः पुनः ऐसे मानता हुआ जो व्यक्ति है वह मानने के स्वभाव वाला ऋणी प्रत्यय है ना अर्थ में ताक्षिल ऋणी है इसलिए पुनः पुनः मैं वशम देते इसलिए बारम्बार मुझ मृत्यु देवता के वश को प्राप्त होते भाषाकार अतएव मूढ़ न सांप्राय प्रतिवादी जितनी वह मूड है इसलिए वह सांप्राय उसको भान नहीं होता न प्रतिवादी कहते हैं संपरे यता इति संपराय संपर सम उपसर्ग परा उपसर्ग और यते धातु इति संपराय हाँ। इसको आनंद गिरिकार बहुत सुंदर लिखते हैं सम्यक पराक काले देह पाता दूर एवं ईयते गम्यते इति अर्थ पात से ऊर्ध्व काल में तत्काल ही वे जिस लोक को प्राप्त करते हैं उसका नाम संप्राय अर्थात परलोक तत् प्राप्ति प्रयोजन उस परलोक को प्राप्ति करना ही है प्रयोजन जिनका ऐसा कौन है साधन विशेष शास्त्रीय वे साधन विशेष कौन है ना जब आ गया ना शास्त्रीय अशास्त्रीय नहीं जो स्कूलों में होता है वो अशास्त्रीय साधन विशेष दिया जा रहा है जिस यह भोग का ही वो साधन है परलोक का साधन वहाँ कुछ भी नहीं है तीसरे यहाँ भाषिकार सतर्क होते हुए साधन विशेष है शास्त्रीय उसका नाम सांपराय संपराय आयम सांपराय तस्दम देखो वार्तिकेद और इतिहास प्राप्ति प्रयोजन ही वार्तियोक्तत्व को आकृति मान करके अनुप्रति किया साधन विशेष क्या होगी कर्म उपासना कर्म और उपासना इन्हीं दोनों को साधन विशेष रूप से लेना है कर्म और उपासना इन दोनों को सच बालम अविवेकिनम प्रति सच बालम अविवेकिनम प्रति उस अविवेक बालम का मतलब क्या इसलिए देखो बालम से क्या लिया अविवेकी ये तो नहीं तो न्याय को जैसे बाल करते अधिक तो काव्य को जो अनित न्याय शास्त्र बाला वो नहीं है नवाज तनंद वो बाला वो बाल नहीं है तो सनंद है वही तो दोनों ने लिया सनंद आदिव्याप्ति वारणा या अधित काव्य कोश कह दिया था तो दो ही प्रकार के बाल आप समझते हो कहते नहीं नहीं अविवेकी भी बालक ही है अविवेकी नाम अविवेकी नाम प्रति न भाति न प्रकाशित नौपतिष्ठते उसके लिए भान नहीं होता प्रकाशित नहीं होता अर्थात उसके समक्ष उपस्थित ही नहीं हो पाता है न उपतिष्ठ न बाल मित्री करो दी अर्थात जो है बालक को अच्छी नहीं लगती जैसे बच्चों को कड़वी दवाइया अच्छी नहीं लगती वैसे ये कर्म उपासना ये सब बहुत कठिन काम है क्योंकि तत्ण फल देने वाले तो है नहीं कर्म और उपासना जो है तत्काल फल देते हैं क्या नहीं और आजकल क्या है जॉब ओरिएंटेड कोर्स लिखते हैं पढ़ा तुरंत नौकरी मिल गया तुरंत पच्चीस हजार तनखा वाह क्या कमाल हो गया तुरंत भल बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिल रहा है लोग जो है इसके लिए बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई पढ़ने के चक्कर में लगे हुए हैं लेकिन यहाँ जितना भी रटो रुद्री कितना भी रटो जो है सब सती क्या होगा पता नहीं कल जजमान बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा क्या होगा अब बुलाएगा भाई ग्यारह देगा कि कौन देगा पता नहीं दस बीस हजार की नौकरी तो दूर की बात है नहीं दस ग्यारह का ही भरोसा नहीं है दृष्ट फल का तो कोई भरोसा नहीं है और अदृष्ट फल कौन जाने मिले ना मिले जब दृष्ट फल ही नहीं मिल रहा इसलिए ये जो मार्ग के जो ज्ञान साधन है ना उन लोगों के दिमाग में उपस्थित ही नहीं हो सकता वो तो यही देखेंगे पहले भाई इसको पढ़ने से ज्ञान नौकरी मिलेगा यही पूछते हैं आजकल संस्कृत पढ़ने से क्या मिलेगा भूखा प्यासा घूमना पड़ेगा ये तो लोग बोलते हैं इसे लोगों को अपेक्षित क्या है तत्काल फल और ये कैसा है तत्काल फल देने वाला नहीं इसलिए उन लोगों के सामने ये साधन उपस्थित ही नहीं होता उनके लिए साधन ही नहीं है प्रमाद्यंतम प्रमाद कुरंतम पुत्र पशुवादि प्रयोजन आसक्त मनसम प्रमाद करने वाला क्या प्रमाद करने वाला कर रहा है वो पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में ही जो आसक्त है मन जिसका ऐसे है वो व्यक्ति तथा वित्त मोहेना वित्त मोहेना क्योंकि जो है शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रकाशित किए जाने पर भी उसके दिमाग में बात घुसती नहीं है यदि आप कथाकार बने और लोगों को ऐसी बात कहें तुम पुत्र पशु आदि ये नौकर चाकरी पकड़ सब में छोड़ो कुछ लिया कहा इसमें ऐसे सुनाओगे ना तो आपकी कथा में पहला दिन पचास भी रहेगा ना अगला दिन दो भी नहीं रहेगा और बुढ़िया होंगी बत्ती बीनती हुई और कोई नहीं बैठेगा आज लोगों को मनोरंजन की कथा भी चाहिए इसीलिए होगा जैसे तो बातें मत बसाओ ये सब शास्त्र और आचार्य के वचनों को हमें मत बोलो मनोरंजन हो थोड़ा बाजा गाजा के साथ गायन वायन भी हो जाए और जो उनके मन बहला गया दिल बहला गया और क्या चाहिए वो कथाकार सबसे बढ़िया कथाकार है इसलिए यहाँ पर कहते कि देखो वित्त मोहे न उन लोगों को जो ज्ञान रूप वित्त की जरूरत नहीं है वास्तविक साधन रूप वित्त की अपेक्षा ही नहीं है वित्त निमित्त न अविवेक न मूढ़ वित्त रूपी निमित्त के कारण से अविवेक के द्वारा जो है वह मोड़ है कई प्रमाजन तुम कोई और स्पष्ट किया वित्त मोहे न मूढ़म के द्वारा अविवेक है तमसा आच्छन्नम संतम तम के द्वारा आच्छादित हुए अयम मेव लोको यो अयम दृश्यमान स्त्रीन पाणाद विशिष्टो नास्ति परो दृष्टो लोका इत्यम मननशीलो मानी और यही लोक है कौन सा जो दृश्यमान है स्त्री अन्न पाना से विशिष्ट है नास्ति पूर्व दृष्टो लोग कोई अदृष्ट कोई लोक नाम का वस्तु नहीं है ऐसा मनन करने के स्वभाव वाले हैं वो ऐसे लोगों का क्या होता है फिर बताएंगे नाति पर मान ये जो लाया है इसलिए क्योंकि जो स्त्री अन्नपान आदियों को ही भोग विषयों को भी वास्तविक मान करके चलने वाला जो विकर्मी है वह कर्मी के समान ही क्योंकि कर्मी भी क्या करता है अंत में स्वर्ग में जाकर के लौटता तो भी है ना एक देरी से लौट रहा है एक तुरंत ही लौटता है इतना ही फर्क है लौटना तो दोनों में बराबर है, है या नहीं इसीलिए श्रेयो मार्ग की प्रशंसा करने के लिए प्रियो मार्ग का निंदा के अंतर्गत जयस्व मृत तीसरे मार्ग का भी ग्रहण करके निंदा किया जा रहा है क्योंकि दोनों के दोनों पुनरागमन दृष्टिकोण से है जो पुनर्जन्म रूपी चीज है जो वह दोनों में समान है और वह वो अलोलोपंत जो कहा गया था बहुत ही नहीं हुआ तुम्हें लोलुप्त नहीं हुआ और अन्य जो है के अन्न पान आदि से ही लुप्त होते हैं यह बात को कथन उसकी पक्ष की व्याख्या में भी जो है यह उचित ही है यह तीसरे मार्ग का जो चर्चा है अनुचित नहीं है इसलिए जब पुनः पुनः जनित्वा वशम अधीनता आपद्य में पुनः पुनः जनित जनित्वा बार बार जन्म लेकर के वशम मद अधीनता आपद्य मेरे अधीनता को प्राप्त होता है मरिताम्बने मे मृत्यु हो मुझ मृत्यु के ममा कह दिया मृत में का ममा जरा स्व इसको वाले ही ज्यादा है जन मरणादि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एवं भगवत जन्म मरणारी रूपा जो दुख प्रबंधारूढ़ एक दो दुख नहीं अनंत दुख दुख सागर में आरूढ़ एव भवती ऐसा ही हुआ करते हैं प्रायण ही एवं विद एव लोग प्राय इसी प्रकार के ही ज्यादा लोग इस संसार में हुआ करते हैं यद्यपि आज के लोग की गणना के अनुसार शास्त्रीय गणना और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कहते मनुष्य नाम सहस्रेश सिद्ध है यदान और विसिद्धान कश्चित माम तत्वतः याद ऐसा होता है इनके अनुसार और आगे जो कहीं क्षरण बहुवीरियों लभ्य सुनने को सुनने पर भी बहुत को कोई ग्रहण ही नहीं होता ग्रहण करने के बावजूद उसका अनुभव नहीं होता लब्ध होने पर भी ज्ञाता नहीं ये जो व्याख्यान की प्रक्रिया के अनुसार लगता है कि निन्यानवे प्रतिशत लोग निन्यानवे प्रतिशत लोग चारवाकवाद अंतर्गत ही है विकर्मी है या स्वर्ग आदि को चाहने वाले कर्मी ही से क्यों ना शास्त्रीय कर्मानुष्ठान करता हुआ भी सकाम पुरुष ही ज्यादा है निन्यानवे प्रतिशत और एक प्रतिशत में से श्रेय मार्गी जो होते हैं उनमें उनमें से भी सिद्धि को चाहने वाले और क्रम मुक्ति के अधिकारी ज्यादा होते हैं सद्यो मुक्ति वाले बहुत ही विरल है बहुत ही कम चाहने वाले इसी बात को संकेत यहाँ कर रहे हैं लेकिन एक विदेशी लोगों के यहाँ सिद्धांत ऐसा नहीं है वो कहते अस्सी प्रतिशत गलत है बीस प्रतिशत से अस्सी प्रतिशत लोग धर्म क्या है आत्मा क्या है और धर्म संबंधी क्रियाकलापों में अंधविश्वास करते हैं अस्सी प्रतिशत लोग वास्तव में धर्म के धर्म को जानते ही नहीं और बीस प्रतिशत लोग जानते और सही मार्ग पे ऐसा वो व्याख्यान करते ये बहुत बड़ा पुस्तक ही उन्होंने इस पर बहुत विवेचन करके ये दिखाया व्यक्ति ठगा जा रहा है एक तक का ठगाई हो रहा है संसार में एक दूसरे का शोषण जैसे कला तो जीवो जीवस्य जीवनम जीव जीव का जीवन हुआ करता है भागवत में कहा तो यहाँ पर जो विचार उनको उसी हिसाब से एक दूसरे का एक्सप्लाइटेशन शोषण ये होते ही रहता है और ये शोषण प्रक्रिया आप जैसा देख रहे हैं उसके अनुसार जो है उनकी गणना क्या है 80 प्रतिशत जनता एक दूसरे का शोषण करती है और 20 प्रतिशत शोषण नहीं करती है ये उनकी गणना है और उनका कथन करना है कि 80 प्रतिशत जनता में भी एक तरफ का ठगाई वाले ज्यादा है और जो दूसरे को ठगते हुए स्वयं को ठग ले रहे हैं जो ऐसे कम है बस अस्सी में भी वो करते हैं साठ और बीस फिर साठ प्रतिशत के लोग ऐसे हैं इतने सीधे हैं जो ठगे जा रहे हैं लेकिन दूसरे को ठगना जानते नहीं मैंने केवल शोषित है शोषक नहीं है और बीस प्रतिशत ऐसा मानते हैं जो शोषित भी हैं और शोषक भी हैं और अन्य बीस प्रतिशत केवल शोषक होते हैं वो शोषित कभी होते नहीं ऐसे उनकी गणना होता है लेकिन शास्त्रीय गणना के अनुसार ऐसा नहीं है जीवो जीव से जीवनम के अनुसार शत प्रतिशत सभी के सभी एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं सभी शोषित है और सभी शोषक भी है एक दूसरे का शोषण किए जा रहे हैं लेकिन शोषित शोषक की परंपरा के अंतर्गत उन्नति को प्राप्त करने वाले कितने हैं है? रोटी सभी खा रहे हैं लेकिन रोटी खा करके अपनी उन्नति के लिए उसका तजनी शक्ति को इस्तेमाल करने वाले कितने हैं और रोटी खाकर तो जन शक्ति को केवल अहिक स्त्री अन्नपान आदि का भोग में ही विसर्जित कर व्यर्थ शक्ति को गवाने वाले कितने हैं ये विचारण विषय बनता है इसके यहाँ पर प्रायण ही एवं विधय का प्रायण जो है जय स्व स्व वाले है स्व उन्नति के लिए कुछ भी करते नहीं है केवल योगक्षेमार्थ ही नित्य निरंतर लगे हुए रहते हैं वह शास्त्रीय कर्म को भी कर रहा हो तो वह भी स्व योगक्षेमार्थ ही हुआ करता है यही देखने को मिला इसलिए इनका कहना है कि देखो प्रायण इसलिए यहाँ पर इन्होंने शब्द प्रयोग कर दिया प्रायण भाष्यकार कहते हैं प्रायण ही एवं विधा कर्म विकर्म और अभेदन उत्ति निंदा विषय अभिव्यंजना इति विभावनियम टिप्पणकार कहते हैं कर्म और अकर्मी और विकर्मी दोनों को अभेद पूर्वक या प्रायण शब्द से कहा गया है इसीलिए क्योंकि शरीर का जो है प्रशंसा है हेतु प्रिय और तीसरा जो मारुता तो जैसा हुआ इन दोनों की निंदा करना उचित ही है और जो श्रेयोर्ति है यस्तु श्रेयोर्ति सहसरेशो कश्चिदेव आत्मविद भवती जो श्रेयोर्ति है उनमें से भी जो श्रेयोर्ति होगा वह सहस्रेशो सहस्रेशो कश्चित वह हजारों में से कोई एक ही हो सकता है आत्म कश्चित देवात्मविद भवती तद विधो जैसे तुम हो तुम्हारे जैसे कोई ही एकाध होगा जो वास्तविक आत्मता होता है यस्मात क्योंकि श्रवणाया बहुबिर्यो न लभ्य शण्वंतोपि बहवोयम न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट यह आत्मतत्व जिसको तुमने पूछा है यह ये जो आत्मतत्व है जिसको तुमने पूछा है वह भी बहुत लोगों को सुनने को भी श्रवणायापी न लभ्य सुनने के लिए भी नहीं मिलता है भी बहवो दूसरे अभागे मलिन बुद्धि वाले ऐसे भी लोग हैं जो कि सुनने को मिल जाता है उन्हें फिर भी उनका अंत इतना मलिन है इतना अशुद्ध है वह बहव सुनवंतो भी यम न विद्यो जिसको तुम पूछ रहे हो उस आत्मा को वे समझ नहीं पाते हैं क्यों ऐसा हेतु स्वयं बता रहे हैं क्योंकि श्रवणया भी बहुग्रीव लभ्य कदम आश्चर्य वक्ता कि वास्तविक वक्ता तो नहीं मिल रहा है वास्तविक तो कथन करने वाला ही नहीं मिल रहा है इसे सुनने को कहा से मिलेगा सात्वा के बारे में जितने ही कथाकार है प्रवचनकार है ये सब तो मिर्च मसाला ज्यादा बोलते हैं असली बात को बोलते ही नहीं क्योंकि डर है कि लोग हमको नहीं मानेंगे हमको नहीं पूजेंगे हमारे भक्तों की संख्या घट न जाए वो बोलेंगे ही नहीं असली बात को उनके सामने इसलिए असली कहने वाला तो कोई कोई तो होता है इसे कहते आश्चर्य वक्ता अतएव समय भी न वक्ता तो बहुत है आपका वक्ता जो यथार्थ वक्ता जो सत्य कथन करने वाला वास्तविक आत्म तत्व के बारे में आपको प्रबोधन करने वाला कोई कोई ही होता है क्योंकि बिना आपके जो है अहंकार पर चोट मारे बिना आत्मा तो बोध करा नहीं सकते ये वास्तव आप देखते बारम्बार हे राम तुम कैसी बात करते हो ये पशु बुद्धि को छोड़ो बार बार टोकते बार बार कहते ये क्या मूर्खता है तेरी इतना बोल रहा हूँ इतना दृष्टान दे रहा हूँ समझा रहा हूँ अरे राम अपनी मूर्ता को छोड़ो बार बार कहना पड़ता है अब ऐसे आप भक्तों को कहो हे मूढ़ो अरे मूर्खो छोड़ो अपनी मूर्खता को तो कौन सुनेगा आपका प्रवचन है? कोई नहीं सुनेगा इसलिए ये अहंकार है जो अभिमान है जो आपके मन के विचार जो दुराग्रह है विभिन्न विषयों को लेकर उस पर जब तक लात न मारी जाए तब तक आत्माबोध हो नहीं सकता है अब ऐसे अहंकार को चोट देकर अहंकार को मिटाकर अपने स्वरूप की ओर खींच के ले जाने वाला वक्ता कौन हो सकता है हर आदमी थोड़े हो सकता है इसलिए वक्ता बहुत है आश्चर्य वक्ता है नहीं अतः बहुतों को सुनने को नहीं मिलता है और ऐसे अक्का दुक्का इधर उधर जहाँ तहा भी है उनके पास पहुँच के सुन भी लेते हैं जो लोग तो सलमंतो भी बहवो यम न विद्य हो बल्कि उसकी निंदा लोग करने लगता अरे वो ऐसे बक बक करते रहता है भाई हाँ? उल्टा पुल्टा बोलते रहता है ऐसा लोग बोलने लगते हैं क्योंकि उनको उनको भी रुचिकर नहीं सुन तो रहे हैं लेकिन वो उनके लिए भी गले से उतरता नहीं पछता नहीं बात धर्मानंद का स्वभाव ही है वो ऐसे ही कटु बोलते हैं थोड़ा लोग कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि भाई कुशल वश्य लब्धा इसलिए जो लाभ करेगा ना श्रवण के द्वारा वह भी कुशल जरूर होगा वह विवेकी महान विवेकी होगा अपने अंतकरण को इतना पवित्र कर चुका है वो उन बातों को यथार्थ रूप अपने अंदर ग्रहण करेगा वास्तव में अपने आंतरिक वासनाओं को समझने की कोशिश करेगा और उसको दूर करके स्वरूपानुभूति की ओर अग्रसर कोई जो होता है श्रवण छोपी बहुम न विद्यो कथा लब्धापि कुशलो क्योंकि आत्मा के ज्ञान को परोक्ष ज्ञान का भी लाभ करने वाला कुशल कोई कोई होता है सुनने वालों में से उसके हेतु दिया भी बहु बहुवो यम न विद्य हो सुनते हुए भी उस आत्मा को नहीं जानते हैं क्यों नहीं जान पाते हैं क्योंकि उसका जानने वाला उसको लाभ करने वाला कोई कोई होता है कुशल होता है और लाभ भी कर लेता है परोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर भी अप्रोक्षानुभूति आश्चर्य ज्ञाता वह भी कोई कोई कर पाता है कौन कर पाता है वो जो कुशलानुशिष्टा जो गुरु शास्त्र के वचनों के द्वारा सम्यक प्रकार से कुशल आचार्य से अनुशिष्ट अनुशासित तो केवल उपनिषद की रथांत विद्या के आधार पर प्रबोधन नहीं करता किंतु अनु मैंने अनुमान आदि के द्वारा भी तर्क के द्वारा श्रुत्यन को तर्क के द्वारा श्रुत्यन को दृष्टांतों के द्वारा जो शासित कर देता है शिष्य को ऐसे आचार्य के द्वारा सम्यक प्रकार से अनुशासित शिष्य होता जो श्रोता वही वास्तव में आश्चर्य ज्ञाता बन सकता है अन्यथा कहते नहीं हो सकता इसलिए अस्मात श्रवणाया श्रवणार्थम श्रोतम अपी कि लाभ और ज्ञान में क्या है कुशल वलब्धा आश्चर्य ज्ञाता ये दो जो बात कही है श्रवण तो यम विद्यु के आधार पर तो उसका कारण यह है कि लाभ का मतलब क्या है स्वायत्तीकरण किस चीज का लाभ हुआ आपको का मतलब क्या है कोई दूसरे का पास था वो आपको मिल गया वो आपका स्वायत्तीकृत हो गया आपका अपना हो गया आपका वो चीज अपना हो गया है और दूसरी बात कहते हैं कि भाई ज्ञान क्या है साक्षात अनुभव मात्र ज्ञान क्या है साक्षात अनुभव मात्र को कहते हैं ये फर्क है लाभ और ज्ञान में अंतर हो गया ना एक को केवल उसमें निष्ठा बनती है और दूसरा उसको अनुभव करता है जिसे आप लोगों में से ज्यादा लोगों को निष्ठा है अद्वैत वेदांत तभी तो सुनने आए हैं निष्ठा तो प्राप्त हो रहा है सुनकर और निष्ठा बढ़ती है आपको भी अनुभव में आता है कि हाँ वे वास्तव में अद्वैत ही सत्य है भले वे अनुभव में आवे नहीं आवे ये तो मान लोगे कि भाई हाँ हर तरह से विचार करके देखा जाए स्वप्न दृष्टान्त मनोराज्य दृष्टान्त अनेकों दृष्टान्तों के आधार पर मांडव के उपनिषद में पढ़ोगे चौदह प्रमुख दृष्टांत है वेदांत तत्व को समझने के लिए उन चौदह दृष्टान्तों की तरह विभिन्न चीज जो हमारे अनुभव में आ रहा है द्वैत तो, इसका आप खंडन कर सकते हैं तो उन दृष्टान्तों के आधार पर और कारिकाकार के द्वारा प्रदत्त तर्क एवं उपनिषदों के द्वारा बताया गया आगम युक्तियां उनके आधार पर आपको यह दृढ़ निश्चय हो जाता है और निष्ठा बनती है कि वास्तव में अद्वैत ही सत्य है और ये जो द्वैत आदि अनुभव हो रहा है वह मिथ्या है एकदशी निष्ठा जरूर बनती है श्रवण के पश्चात लेकिन वह ध्यान करके उसका अनुभूति किसी किसी को होती है ये लाभ और ज्ञान इस लब्धा ज्ञाता में यह अंतर को अच्छी तरह से समझ लेना तो कहते श्रवणार्थम श्रोतम अपनी यो न लभ्य आत्मा भी अनेक ही अनेक ही श्रोतम अपनी श्रवण के लिए करने के लिए भी बहुत को प्राप्त नहीं होता किसको श्रवण करने के लिए आत्मा को श्रवण करने के लिए आत्म विषय का जो है श्रुतियों को सुनने के लिए भी अवसर नहीं मिलता सुनम दो भी और सुनते हुए लोगों में भी बहुत अनेक अन्य यम आत्मान न विद्यो न विदंधी अनेक जो अन्य लोग हैं जो लोग जिनको सुनने को अवसर मिल रहा है सुन तो रहे हैं वो लेकिन उस आत्मा को वे नहीं जान पाते हैं क्यों नहीं जान पाते अभागी नो वे अभागी हैं अभागी है का मतलब क्या असंस्कृत आत्मा रो रवि जानी हो वे आदि मलिन अंतकरण वाले है संस्कृत अर्थ संशोधित शुद्ध अंतकरण वाले नहीं है इसलिए वे उसको नहीं जान पाते हैं शरण में प्रवृत्ति तो है प्रवृत्ति होने के बावजूद भी कुछ अभी आग्रह बाकी है अंदर में विभिन्न वासनाओं को लेकर ये विराजमान है इसे सुनने के बावजूद भी उसके अंदर निष्ठा भी उसको नहीं मिलती है सुना शब्दार्थ बोध हो गया और शब्दार्थ बोध को लेकर के शाब्दी पंडित तो बन जाएगा और बढ़िया प्रवचन बोलेगा और संसार में कहेंगे हाँ इतने का बढ़िया विद्वान है इनके बराबर कोई विद्वान नहीं है नाम जरूर रहेगा उसका विद्वत्ता जरूर है उसके पास लेकिन निष्ठा नहीं तत्व निष्ठा होना अलग चीज है तत्वार्थ ज्ञान होना अलग चीज तत्व का शाब्दिक ज्ञान होना आसान है वो तो बौद्धिक खेल है लेकिन उस तत्व में निष्ठा हो जाए तो फिर उस तत्व ज्ञान को भून कर वह प्रवृत्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है जिसको केवल शाब्दिक ज्ञान होता है वह शब्द ज्ञान को लेकर अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए उस ज्ञान को इस्तेमाल करता है यही ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे पढ़े हैं रटे हैं लिखे हैं वेदांताचार्य सर्वदर्शनाचार्य वगैरह वगैरह हैं और उस पड़ा हुआ उस ज्ञान को लेकर कथा प्रवचन आदि अनेक माध्यमों के द्वारा वह धनादि अर्जन करते हुए अपनी वासनाओं की पूर्ति में प्रवृत्त होते हैं ऐसे ही लोग ज्यादा आपको मिलेंगे लेकिन जिसको तत्व में निष्ठा हो गई वो तत्वानुभूति को जरूर जाएगा और रुक नहीं सकता फिर फिर स्वाभाविक रूप से उसके अंतकरण में प्रवृत्ति स्वयं ही निवृत्त हो जाता है निष्ठा के अभाव है प्रवृत्ति का कारण ये अंतर है इसलिए इनका कहना है सुनने को मिलने पर भी वह उसको जानता नहीं है अर्थात उसको उसमें निष्ठा नहीं बन रही है सुनने को मिला है सुना है वो शब्दार्थ बोध को समझा है वो लेकिन उसमें निष्ठा नहीं बनी अतएव प्रवृत्ति परायण बना रहता है इसे इनका कहना है असंस्कृत आत्मा है ऐसे जो लोग हैं वो कैसे हैं अशुद्ध अंतकरण वाले हैं किंच अस्य वक्ता भी आश्चर्य क्यों ऐसे हेत हेतुवत भाष कथन कर रहे हैं सुनने को क्यों नहीं मिला उसका कारण यह है अस्य वक्ता भी आश्चर्य अद्भुत वेव अनेकेश कश्चिदेव भवती अनेक वक्ताओं में से वह इसका आत्म तत्व का समय कथन करने वाला वक्ता कश्चिदेव भवती कोई कोई हो सकता है तथा श्रोत्रा अपनी अस्य आत्मा कुशलो निपुण अनेकेश लब्ध कश्चित भवती सुनने के बाद भी अस्य आत्मना कुशलो निपुण एव अनेकेश अनेक सुनने वालों में भी कोई कोई ही एकाध होगा निपुण व्यक्ति जो कश्चित देव लब्धा भवती कोई होगा जो इसमें निष्ठा को प्राप्त करता है इसलिए जो जहाँ इन चीजों पर जोर दो ना उसको काट करने में लगे रहते हैं जो ऐसे लोग हैं जो निष्ठा रहित लोग सुने हैं शब्दार्थ में विद्वत्ता है वो क्या करेंगे आप जब जोर दोगे ना अंतकोण की शुद्धि के लिए संस्कार के लिए उसको काट देंगे नहीं नहीं ये तो भाई वो उसको रखेंगे किसको जो कहा है सदसम चेष्टते स्वस्या ज्ञानवान अभी इसको रटेंगे कहें मैं कुछ नहीं कर सकते हो आपका स्वभाव के अनुसार आप चलते रहोगे वहां पर ही शंका पुरुषाकार की कहा व्यवस्था रही फिर छात्र व्यर्थ हो जाए उसके अगले श्लोक के लिए कहा भगवान आप शंका डाला गया तब तो कहा कि नहीं नहीं हो रहा है किंतु रागदेश पूर्वक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उस रागदेश रहित प्रवृत्ति करना ही अंतगण शुद्धि का आगे बढ़ने का रास्ता है इस बात को पकड़ दे उसको लेकर के बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते जानते है जानते नहीं हो ये वासना इतनी प्रबल है वासना इतनी प्रबल है उसको समझकर उस वासना को मिटाना नहीं चाह रहा वासना क्षय करना कोई साधारण बात नहीं है उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि मेरे अंदर कैसी वासनाएं इसलिए वो कुतर्क करते रहते तो कारण ये बन रहा है ना व्यक्ति की अपनी वासनाओं को पहचान कर उसको क्षय करने की क्षमता किसमें है कितने में है वही नहीं उसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा और जो वासना के अधीन होकर बहिर्मुख है प्रवृत्ति परायण है वो अंतर्मुख कैसे होगा हो ही नहीं सकता अतः उसके मन हमेशा को देते रहेगा अपने आप को वो इसको कहते डबल डिसेप्शन दूसरे को ठगी रहा है और स्वयं भी ठग ले रहा है अपने आप को दूसरे को ठग रहा है दूसरे को गलत मार्ग में डाल रहा है दूसरे को भी उपदेश दे रहा है तुम कुछ नहीं कर सकते तुम जैसे वैसे ही रहो पशु है तो पशु ही रहो सुधरो मत तुम्हारी अपनी वासना है जैसे महारानी भी गर्भिणी हो जाए तो भी दीवार को चाटेगी ये तो कहते हैं किसको संस्कार मिट्टी खाएगी और कुछ गेरू को पाउडर मंगा के खाएगी ऐसे ऐसे लोग बोलते कुतर्क देखते दूसरों को इस तरह से बर्बाद कर दिया उसके अंदर स्वयं पे बर्बाद हो गए स्वयं पे सुधरने का प्रयास नहीं है ना हाँ स्व अज्ञान क्यों अति विरला लिखाया है ये शास्त्र के बहुत मिलेंगे नीतिज्ञ नियतिज्ञ है ना नीति को जानने वाले बहुत है नियति को जानने वाले भी बहुत है धर्मज्ञोपि शास्त्र धर्म को जानने वाले और धर्म से भिन्न शास्त्रों को भी जानने वाले बहुत मिलेंगे ब्रह्मज्ञो भी बहावा ब्रह्मज्ञानी भी मान यही निष्ठा है नहीं शब्दार्थ को जानने वाले सुना और शब्दार्थ को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे इन स्व ज्ञान ज्ञो अतिविरदा स्व में विद्यमान अज्ञान को जानने वाले कोई कोई उन्हीं बातों को लेकर यहाँ कहा जा रहा है इसीलिए कि वही वो कैसे हैं जो उस निष्ठा पालेगा मन वो भी आश्चर्य व देवा अद्भुत व देवा अनेक कश्चित जो निष्ठा को लाभ करे ये भी बहुत भगवान के असीम कृपा से किसी किसी को इसमें निष्ठा हो सकती है निष्ठा होने के बाद अनुभव करने वाला यस्माद आश्चर्य आता कच्चित देव कुशलानुशिष्ट इसलिए कि उसका अनुभव करने वाला भी कोई कोई होता है जो कि कुशलानुशिष्टा कुशले न निपुणे न आचार्य न अनुशिष्ट सन निपुण आचार्य के द्वारा अनुशासित होकर उसको अनुभव के धरातल पर उतरने वाला भी कोई कोई होता है यह टिप्पण में गीता का श्लोक भी दिया आश्चर्य पश्चित आश्चर्य तथा वचान्य आसर्वचीन मन श्रृणती श्रुताप्यनम वेदन चैव कश्चित श्रुत्य नूप स्मृति का यहाँ संकेत कर दिया है इसलिए बहो अवलोक्यंत लोके स्वक्तारो दृष्ट प्राची सर्वे ब्रह्म विपदिशंति इत्यादि टिप्पणकार बड़ा सुंदर कहते हैं इस समय भी, भी हमें दुनिया में देखने को मिल रहा है वक्ता बहुत है वेदांत पर प्रवचन करने वाले बहुत हमको मिल रहे हैं और पहले जमाने सुने आ रहे हैं सर्वे ब्रह्मवादी बहुत सारे ब्रह्मवादी लोग थे जिसको ये याज्ञवल के प्रकरण में स्पष्ट ही है बहुत ही ब्रह्मवादी लोग हैं उनमें से जो कोई ब्रह्मज्ञानी होगा शर्त ब्रह्मनिष्ठ उसको मैं प्रणाम करता हूँ यज्ञ जी कहता है मैं नहीं जानता मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ या नहीं हूँ इसमें मेरे को गौन की अपेक्षा से मैं गौन को ले जा रहा हूँ जो ब्रह्मवाद के बदले में देने पुरस्कार में देने योग्य माना गया है उन गौ को मैं ले जा रहा हूँ इसलिए मैं जो इस सभा मंडप में विद्यमान अनेक ब्रह्म विदिशियों में से जो कोई ब्रह्मविद्ता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ स्पष्ट ही अनेक ब्रह्मवादी थे और गार्गी के लिए तो ब्रह्म विदुषी वा विदुषी कहा गया बहुत ही विलक्षण रूप से कथन करने वाली वो जब शुरू ही करती है तो आदमी डर जाएगा ऐसे शुरू करती है वो कहते अरे यार केवल बहुत बोल लिया सबको परास्त कर लिया मेरे पास दो बाण है उसको मैं छोड़ने वाला हूँ जैसे दृष्टान दिया कि जो है धनुष को तान करके खड़े हुए महाक्षत्रिय व्यक्ति अपने शत्रुओं को मारने के लिए तैयार होता है और बाण को चढ़ा करके अगले को कंपा देता है झंकार के द्वारा उसी प्रकार से मेरे पास दो बाण है संभल जाओ जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं जवाब दोगे तो हो जाएगा कल्याण तेनो घबराता नहीं गुरुणा आप दुख चिन्ह विचार लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा भी बोलो तो कहने का तो ऐसे ब्रह्म विदुषी भी सैकड़ों मिल जाएंगे इसलिए कहते हैं सर्वे ब्रह्म ऋषि इत्यादि तथा आश्चर्य वक्ता इत्यादि कथम तब आपने ऐसे कैसे कर दिया आश्चर्य वक्ता कस्मात था मूल में भाषाकार कस्मात जवाब देते न नरेणावरेण प्रोक्तो ये सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमान अन्य प्रोक्ते गतिरत्रास्ति अनियातर्क्यम प्रमाणा न नरेणावरेण प्रोक्ता एस सुज्ञेय बहुधा चिंत्यमानोपी बहुत प्रकार से चिंतन मंथन विचार करने के बावजूद भी ये आत्मा न विज्ञेय यह आत्मा विज्ञेय नहीं हो सकता क्यों नरेन अवरेण प्रोक्त नरेण मनुष्य न इधर मनुष्य न आवरण अर्थात हीन प्राकृत बुद्धि न हीन अद्वैत स्वरूप से हीन द्वैत रूपी प्राकृत बुद्धि वाला जो होता है उसके द्वारा कहा हुआ बात कभी भी असर नहीं कर सकता जिसके अंदर यह अभिमान है मैं एक बहुत बड़ा ब्रह्मवेत्ता विद्वान हूँ और मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इस भाव से पढ़ाता है भेद बुद्धि है ना जिस भेद बुद्धि को लेकर के बढ़ा रहा है अतएव उस अभेद अनुभूति किसी को हो नहीं सकता प्राकृत बुद्धि वाला व्यक्ति को यहाँ कहेंगे अवरेण नरेण प्राकृत बुद्धि क्या है द्वैत बुद्धि उस द्वैत बुद्धि वाला होकर के यदि कोई व्यक्ति वेदांत को कहता है और उसको जो लोग सुनते हैं उनको पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा बहुत अचिंत्य मानो भी न सुविज्ञेय उसको सुन करके कमरे में बैठ के बहुत चिंतन करने के बावजूद भी वो आत्मस्वज्ञ ही नहीं हो सकता